कातिल ने कौशिक की बॉडी में सात बार चाकू से वार करने के बाद ये मान लिया था कि वो अब मरने वाला है और अगर सात बार चाकू लगने के बाद भी कौशिक नहीं मरता है तो फिर भी बॉडी से ज्यादा खून निकल जाने के कारण उसको मर जाना चाहिए था हर्षित ने अपनी राय रखते हुए कहा हम्म बात तो सही है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कौशिक के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर है क्या पता कातिल ने कौशिक का मर्डर इसलिए किया था ताकि वो मर्डर केस में प्रसाद का नाम लेकर उसे फंसा सके हो सकता है ये जब कातिल का प्लान रहा हो जिससे कि वो प्रसाद को झूठे इल्जाम में फंसा सके सर क्या बातें कर रहे हैं आप हर्षित अभी भी अपनी बात पर टिका रहा अब जो हमारे लिए गवाह बन रहा है आप उसे ही सस्पेक्ट मान रहे हैं हर्षित एक मिनट मेरी बात सुनो पहले अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है अनुष्का ने जवाब दिया और फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर मुझे जहाँ तक लगता है कि कौशिक की जान उसकी अच्छी किस्मत के चलते बची है बस और कोई बात नहीं ओ विक्रांत ने अपनी भौं टेढ़ी करते हुए कहा लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो क्योंकि अनुष्का ने फिर विक्रांत के आगे फोन दिखाते हुए कहा ये देखिए कातिल ने कौशिक की बॉडी में भी कुछ निशान छोड़ा है अनुष्का ने जो फोटो इन लोगों को दिखाई उसमें कौशिक का हाथ दिखाई दे रहा था जिस पर ऑयल पेंट की मदद से दलाल शब्द लिखा हुआ था क्या दलाल आशित ने चौंकते हुए कहा इसका क्या मतलब है ओ समंता ने जब ये बात सुनी तो फिर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई देने लगे इसके साथ ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो उठी फिर उसने अपने आंसू पोसते हुए कहा शायद मुझे इसका मतलब पता है मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि जितना सीधा साधा दिखता है उतना है नहीं मतलब सीधा नहीं है मतलब अर्षित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था समन्ता ने फिर ठंडी आहें भरते हुए कहा आपको अभी फिल्म इंडस्ट्री का डार्क सीक्रेट नहीं पता है ये इंडस्ट्री ऊपर से जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं आपको इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी क्लियर दिखती है भीतर से उतनी ही डार्क है हम्म, मतलब हर्षित को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बड़े ध्यान से समंता की बातें सुन रहा था समंता ने हंसते हुए कहा मैंने सुना था कि कौशिक साला खुद अपनी कास्टिंग कंपनी चलाता था इस कास्टिंग कंपनी की मदद से वो ज्यादातर नई मॉडल्स और एक्ट्रेस को टारगेट करता था वो नई नई लड़कियों को फिल्मों में काम दिलाने के बहाने पकड़ता था फिर उन्हें फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से उन लोगों को मिलवाता था और फिर इसके बदले में वो फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से काफी पैसे कमाता था ये कैसा काम है हर्षित ने चौंकते हुए कहा अरे अब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी कास्टिंग कंपनियां काम करती हैं ये लोग न्यू कमर्स एक्टर्स को फिल्मों में काम दिलवाते हैं और उसके बदले में अपनी कमाई करते हैं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर उसने समंता की तरफ देखते हुए कहा लेकिन इसमें गलत क्या है कास्टिंग कंपनी तो सही काम करती है <laughs> सही काम करती है लेकिन सभी कंपनियां नहीं करती ना समंता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कौशिक अपनी कास्टिंग कंपनी के जरिए उन लोगों को लड़कियों की सप्लाई करता था वो लोग लड़कियों को फिल्मों में स्टार बनाने का लालच देकर उनका मिसयूज करते थे और फिर बाद में छोटा मोटा रोल ऑफर करके उन्हें सेटिस्फाई कर देते थे लेकिन ऐसे काम के लिए पैसे कौन देता है हर्षित ने अपनी बुआ टेडी करते हुए सवाल किया दोनों समंता ने तुरंत जवाब दिया जिसको काम चाहिए वो भी और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी दोनों पैसे देते हैं ऐसी कंपनियों को छी यही सब भी होता है क्या फिल्म लाइन में कितने घटिया लोग इस इंडस्ट्री में छुपे बैठे हैं अनुष्का ने थोड़े लफ्जों में जवाब दिया अरे इतनी बड़ी बात नहीं है ये सब तो फिल्म इंडस्ट्री में चलता ही है जब कहीं पर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो फिर वहाँ पर बिजनेस भी शुरू होता है समंता ने नॉर्मली जवाब दिया फिर उसने कहा देखो ऐसा नहीं है कि सभी कास्टिंग कंपनियां गंदा काम ही करती हैं लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि यंग एक्ट्रेस फिल्मों में काम पाने के लिए जितना सेक्रीफाइस करती हैं उसके बदले में उतना उन्हें मिलता नहीं है समंता ने आगे हंसते हुए कहा लेकिन इस मामले में मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी रही मैं कभी उन दरिंदों के भूख का शिकार नहीं हुई अच्छा तो इसका मतलब ये है कि कौशिक कास्टिंग कंपनी चलाने की आड़ में ये सब गंदे काम करता था और ये बात कातिल लोगों को बताना चाहता था अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कातिल ने कौशिक को मारने की कोशिश भी इसलिए की थी वो चाहता था कि लोगों को कौशिक के गंदे काम का पता चले इसलिए उसने कौशिक के हाथ में दलाल शब्द लिख दिया था हम्म, मुझे भी ऐसा लग रहा है समन्ता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर उसने आगे कहा दुनिया में अरबों लोग हैं और उन अरबों लोगों में से करोड़ों ऐसे होते हैं जो कि फिल्मों में स्टार बनने का सपना लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं सभी एक्टर खुद को स्टार बनाना चाहते हैं लेकिन इन करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक ही दो लोग ही ऐसे हैं जो स्टार बनते हैं मेहनत तो होती ही है लेकिन फिल्म स्टार बनने के लिए किस्मत के साथ साथ काफी जान पहचान और सपोर्ट की भी जरूरत होती है उसके बाद ही फिल्म स्टार बनना लॉटरी लगने के जैसा है समंता के शब्दों ने यहाँ पर बैठे सभी लोगों को काफी दुखी कर दिया समंता ने फिर कुछ पल रुकने के बाद कहा वैसे मैंने आप लोगों को जो कुछ बताया है वो खुद से नहीं बताया है बल्कि ये सब बातें मैंने अपने साथ काम करने वाले लोगों के मुंह से सुना था अब ये सब सच है या नहीं मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती लेकिन हाँ मैं अपने साथ काम करने वालों का नाम आपको बता दूंगी फिर आप लोग चाहो तो उनसे भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वैसे बात तो सही है क्योंकि बिना आके धुआं नहीं उठता है अगर कौशिक के बारे में लोग इतनी बातें करते थे तो कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर ही होगी चलो ये तो सही है कि कौशिक लड़कियों की दलाली का काम करता था विक्रांत ने अपनी भुआ टेढ़ी करते हुए कहा लेकिन फिर भी किसी का खून करने के लिए ये कोई पर्याप्त रीजन नहीं हो सकता हो सकता है कि कातिल का कौशिक के साथ कोई पर्सनल कनेक्शन रहा हो और मर्डरर ने क्लू देकर अपनी बात पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश की हो थोड़ी देर तक बड़े ध्यान से विचार विमर्श करने के बाद विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा तुम ऐसा करो कुछ और पुलिस वालों का इंतजाम करके उन्हें फिल्म क्रू के सभी लोगों के बारे में पता लगाने के लिए लगा दो खासतौर पर दयाकर और प्रसाद के बारे में पता करो जितनी जल्दी हो सके ये काम शुरू कर दो जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके उतना ही अच्छा है थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा और इसके साथ ही मर्डरर ने जितने क्लू छोड़े हैं उनको भी ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना है मर्डरर ने जितने क्लू छोड़े हैं उन सभी को आपस में मैच करने की भी जरूरत है ताकि इन क्लूज में से जो भी सिमिलरिटी है वो भी पता चले ठीक है हर्षित ने सहमति जताते हुए कहा